भाव का रक्त है हम उसी अणु जिसको हम लोग श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं मैं कहकर संबोधित करते हैं उसकी बड़ी विचित्र कथा है बना हुआ है से ईश्वरीय विभूतियां इस रूप में उसमें विद्यमान है और जब से मैंने उसको मैं मैं कहकर संबोधित करना आरंभ किया तब से उस पर न जाने इस निर्मित अहम भाव के अभिमान से कितने विकार कितने ऐसी उसकी विचित्र दशा है कि जब विकारों से आक्रांत हो जाओ क्या नहीं कैसी शक्ल बन जाती है और जब मौलिक तत्वों से प्रभावित हो जाओ तो उसकी सुंदरता उसकी शुद्धता उसकी मधुरता निखर जाती है हम सभी भाई बहन इन दोनों दशाओं के बीच में झूल रहे हैं एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग पढ़ाया जाता था हम लोगों को एक्सपेरिमेंट है वो तो बीच में एक प्राणी और दोनों ओर उसके आकर्षक वस्तुएं रख दी जाती थी बीच में जो चित्र उसका होता था हम लोग देखते थे नापते थे कितना कितना इस आकर्षण में झुक रहा है और कितना इस आकर्षण में झुक रहा है तो वो सबका नापा जाता था मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितने का कौन बन गया इधर कितने का बन गया इधर तो किधर उसकी रुचि ज्यादा है ये पता लगाने के लिए तो चित्र बनता था तो उसमें बीज का जो प्राणी है जिसको इधर भी आकर्षण लग रहा है इधर भी आकर्षण लग रहा है तो वो बेचारा ना उसी को पकड़ सके ना उसी को पकड़ सके ये एक्सपेरिमेंट है प्रयोगशाला का एक्सपेरिमेंट है तो, तो ए, एक बार अच्छा जी चाहे कि ये ले तो ऐसे झुके थोड़ा सा इधर झुके तो लगे कि उसको ले ले तो फिर ऐसे झुके तो एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर झुकते झुकते झुकते प्राणी थक करके शिथिल हो करके अर्ध चेतना की तरह पड़ जाता था न इसी को ले सके न इसी को ले सके तो कैसा लगता है कि हम लोगों की दशा जो है तो उससे कुछ अच्छी नहीं है एक बार संसार का आकर्षण खींचता है तो भीतर के प्रकाश पर पर्दा डाल के अच्छा देखेंगे ज्ञान ध्यान की बात कभी सोच लेंगे अभी ये सामने अनुकूलता आई है तो इसका सुख तो ले लो इसका पूरा तो ले लो फिर उसमें फंसने से पहले भगवान की याद आ गई धर्म की याद आ गई त्याग की बात याद आ गई शांति की बात याद आ गई तो उधर से अपने को हटाया नहीं नहीं नहीं जाने दो नहीं चाहिए फिर इधर जोर शोर से सब प्रकार से इधर का संबंध कट करके एकदम उसमें प्रवेश कर जाने की घड़ी आई आहा कितने सुख थे कैसे छोड़े कैसे प्यारे मित्र थे ये था वो था वो था ऐसी दशा हो गई है कि वो भोजपुरी में कहावत मैंने सुना था बचपन में दुविधा में दोनों गए माया में ही तो ये है वर्तमान की दशा जब सत्य की जिज्ञासा जोर मारती है तो सत्संग पसंद आ जाता है और सत्संग में रहते हैं और बड़ा आनंद आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और इसी बीच में याद आ गया कि बच्चे घर में प्रतीक्षा करते हैं तो होली के पर्व पर उनके पास नहीं रहने से अच्छा नहीं लगेगा तो भाई अब इधर से गठरी तो चलो उधर तो तरह तरह की बातें ये तो मैं बहुत स्कूल उदाहरण रख रही हूँ लेकिन हम लोगों की दशा जो भीतर से है वो मुझे साइकोलॉजी के का चित्र अभी दिखाई दे रहा है कि इधर झुके तो इधर से खींच गए इधर झुके तो इधर से खींच गए तो आज अब क्या करना चाहिए कि हम सब लोग एक ऐसे स्तर पर बैठे हैं कि जहाँ से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं ऐसे स्तर पर बैठे हैं संत के संपर्क से भगवत कृपा से जीवन के मंगलमय विधान से बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि शांति मुक्ति और भक्ति के बिना परित्राण नहीं है तो अब क्या करना चाहिए कि अपने पर अपनी कृपा करें और अपनी महिमा आप स्वीकार करें मनुष्य के जीवन की बड़ी भारी विशेषता है कि कितने दिनों की पुरानी फसावट क्यों न हो अगर उसे वर्तमान में सूझ गया है कि कि अविनाशी जीवन ही आ, प्राप्त है और और नाशवान की ओर से अपने को हटा लेना ही मौलिक उपाय है इस, इस बात को जान लेने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद और अपने द्वारा सही स्वीकार कर लेने के बाद अब हम भाई बहनों को अर्थात मानव मात्र साधकों को पशु की भांति दोनों ओर झूलना नहीं चाहिए थोड़ा सा अपने पर जोर डालने के जो लगाव केवल संकल्प के कारण बन गया है उसको टूटने में देर नहीं लगती और वो टूट जाता है तो जो लगाव सत्य है सनातन है कभी छूटता ही नहीं कभी मिटा ही नहीं कभी टूटेगा ही नहीं तो वो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो जाता है तो फंसे हैं हम लोग किसमें तो उस मिथ्या लगाव में जो कि कभी भी यथार्थ रूप में जुटा नहीं संसार की ओर का आकर्षण जो हम लोगों का है वो भ्रम के आधार पर है वस्तुतः संसार की वस्तुओं से मेरा स्ट्रक्चरल रिलेशन कभी नहीं हुआ रचना की दृष्टि से इसके साथ लगाव कभी नहीं हुआ केवल मैंने अपने को थोड़ा सा ढीला कर दिया और अविनाशी जीवन जो है उसकी ओर से थोड़ी आंख बंद कर ली और इसका जो थोड़ी देर का क्षणिक सुखद आभास है उसको मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरी स्वीकृति से उसका लगाव बन गया तो इसको मैं फंक्शनल रिलेशन कहती हूँ क्रियात्मक संबंध बन जाता है और ज्ञान के प्रकाश में तत्काल ही ये संबंध टूट करके सदा के लिए समाप्त हो जाता है और जो जिसके साथ जातीय एकता है नित्य संबंध है आत्मीय संबंध है वह जो सत्य तत्व है नित्य तत्व है परम प्रेमास्पद परमात्मा है उसके साथ जो अपना लगाव है खिंचाव है वो बनाया हुआ नहीं है उत्पन्न किया हुआ नहीं है मेरी बहादुरी का परिणाम नहीं है वो स्ट्रक्चरल है बनावटी में है रचना के आरंभ से ही है तो, तो जब ये अहम रूपी अणु अथवा मैं उसकी ओर से आंख बंद करके उससे अपने को बिछुड़ा करके जिससे नित्य संबंध नहीं है उसको पकड़ने की चेष्टा में लग गए तो दीनता अभिमान अपमान सम्मान सुख और दुख संयोग और वियोग जन्म और मृत्यु इसमें फंस गए लेकिन इसी वर्तमान घड़ी में अगर हम सचमुच सत्संगी है और सत्संग के प्रभाव से सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति चाहते हैं तो यहीं पर बैठे ही बैठे हम लोगों को भीतर भीतर इस बात का फैसला ले ही लेना चाहिए कि जो संबंध निधि ही नहीं सकता सदा के लिए अलग ही है केवल मेरे संकल्प से ही बन गया है छोड़ देने से छूट जाएगा उसको आज ही इसी बैठक में यहीं पर छोड़ करके ही हम लोगों को उठना चाहिए ऐसा ऐसा बनावटी है स्नायु मंडल की क्रियाओं में हम बढ़ा करते थे कि एक यूनिट का स्नायु है दूसरी यूनिट का स्नायु है तो दोनों कभी जुटे हुए नहीं होते हैं अलग अलग पास पास में पड़े रहते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में एक दूसरे से ऐसे और जब कोई संवेदना बाहर से भीतर मस्तिष्क की ओर ले जानी होती है तो संवेदना का भेद एक में से दूसरे में जाता है तो क्रियात्मक संबंध दोनों में बन जाता है और काम खत्म हो जाता है तो फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ऐसे ही शरीर और संसार के साथ हमारा लगाव रहता नहीं है पहले भी नहीं था अब भी नहीं है लेकिन जब मेरे भीतर कोई संकल्प उठता है तो वो संकल्प मुझको शरीरों को संसार की वस्तुओं के साथ जुटा देता है और वो संकल्प खत्म हो गया तो साथ हो गया ऐसे ही मेरे संकल्प में है कि मैं अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची सच्ची सच्ची बातों को सुंदर ढंग से कह करके भाई बहनों को सुनाऊं तो मेरा ये संकल्प जो है वो मेरी वृत्ति को ये स्वर यंत्र के साथ जोड़ देती है तो मैं बोल रही हूँ आपके सुनने का संकल्प है तो स्वभाव से तो आप अपने आप में ही है स्वभाव से तो आप अपने अविनाशी स्वरूप में ही है लेकिन बोलने और सुनने की क्रिया के के संकल्प से जैसे मेरी वृत्ति जुट गई स्वर यंत्र के साथ ऐसे ही आपकी वृत्ति जुट गई है ध्वनि यंत्र के साथ तो कहना सुनना हो रहा है कहना समाप्त हो जाए और उसके साथ असंगता आ जाए तो तुरंत ही सारी वृत्तियां सिमट करके भीतर ही जाकर अपने उद्गम से जुट जाए उसको कहते हैं नित्य योग अपने परम प्रेमास्पद के प्रेम भाव में लीन हो जाए तो उसको कहते हैं भक्ति योग और सुनने का काम खत्म हो गया आपने सुन लिया कि शरीर और संसार के साथ मेरा नित्य संबंध नहीं है आवश्यकता के अनुसार संबंध बन जाता है और काम खत्म होने से संबंध टूट जाता है इसको अगर हमने स्वाभाविक बना लिया तो सारी वृत्ति सिमट करके अंतर्मुख हो जाएगी और सुनने के बाद न सुनना बोलने के बाद न बोलना काम करने के बाद कुछ न करना अप्रयत्न होकर अहंकृति रहित होकर नित्य तत्व से नित्य योग में परमानंद पाना बहुत ही स्वाभाविक वैज्ञानिक दार्शनिक और आर्थिक दृष्टि से सच्ची बात है जीवन की तो जीवन में रक्त घटता है कब जब बाहर बाहर उसको खर्च करने लगते हैं तब और भीतर भीतर रस बढ़ता है कब जब अपने को उस रस के अथाह सागर से जोड़ देते हैं तब इतनी सी बात है तो जो कभी न घटने वाला रिजर्वायर ऑफ लाइफ है रिजर्वायर ऑफ लाइफ है उसमें से जिंदगी कभी घटती नहीं है उसमें से रक्त कभी घटता नहीं है उसमें से सामर्थ्य और प्रकाश कभी घटता नहीं है तो उसी से उसी में से हम लोग निकले और उस उसके साथ अपना तार कभी टूटता नहीं है संबंध कभी टूटता नहीं है केवल मेरी दृष्टि उस पर नहीं है तो उसमें जो रस प्रवाहित हो रहा है उसकी मधुरता उसका मिठास अपने स्वाद में नहीं आता अपने स्वाद में क्या आ रहा है मैं बड़ा भगवान हूँ मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ मैं बड़ा बलवान हूँ मैं बड़ा बढ़िया साधक हूँ मेरा भजन बढ़िया चलता है मैं बड़ा लगती हूँ मैं बड़ा जपी हूँ मैं बड़ा पति हूँ मैं बड़ा त्यागी हूँ मैं बड़ा सेवक हूँ ये उसकी विमुखता की दशा है ये चल रही है तो इसमें रस घट जाता है मैंपन जो है मैं बड़ा ऐसा हूँ तो ये मैंपन का आभार अहम का अभिमान कहलाता है तो इससे थोड़ी कठोरता आ जाती है और सख्त हो गया तो उसमें रक्त का संचार अनुभव में नहीं आता है वो टिका हुआ है उसी रस पर उस उस रक्त के बिना ये अणुओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं का संगठन रह नहीं सकता तो टीका तो है उसी के आधार पर लेकिन शक्ति आ जाने के कारण से रस का संचार नहीं होता रोग आप्लावित नहीं होता ये घाटा लगता है अपने को और मैंने संत कृपा से भगवत कृपा से सत्संग के प्रभाव से ऐसा जाना है कि एक बार भी साधक के भीतर उस उस स्वरथ के स्वरथ के संचार का अनुभव हो जाए तो दुनिया के सब रथ फीके हो जाते हैं होता है ऐसा साधन काल में होता है सिद्धि की बात मैं नहीं जानती जीवन पूर्ण हो जाए साधना पूर्ण हो जाए और साधक अपने साध्य से अभिन्न हो जाए तब तो वो कुछ कहने सुनने की दशा में रहेगा ही नहीं तो वो बात मुझे नहीं मालूम है मैं तो अभी बोल रही हूँ और नया नया प्रोग्राम बोलने का बना रही हूँ न बोलना उसमें जाकर के डूब जाना समाप्त हो जाना सब प्रकार की साधना साधे में समाहित हो जाए वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ मैं साधन काल की बात कर रही हूँ कि अगर दृष्टि बदल गई होती तो आपके शांति काल में ये अनुभव में आ जाता कि जब बाहर से हम अपने को समेत लेते हैं तो अपने ही स्वमें से उस रस का संचार होता है जो कि मन को तन को इंद्रियों को बुद्धि को अंतर और बाह्य सब कर्मों को बिल्कुल भरपूर कर देता है और उस रस का आस्वादन एक बार भी हो जाए तो फिर दुनिया का कोई रस उसके आगे कुछ नहीं लगता ऐसा होता है आनंद में आगे मीरा जी कहती है भव सागर सब सूख गयो है फिकर नहीं वो तक न मोहे लगन हरि की प्रभु की प्रीति प्रभु की भक्ति एक बार उसने रथ से सराबोर कर दिया तो फिर दुनिया दिखेगी भी नहीं और दिखी भी तो उसने अपने प्यारे के अतिरिक्त तो और कुछ मिलेगा भी नहीं तो मेरा ऐसा विश्वास है और मैं अपने परम आत्मीय प्रभु के नाते बड़े घनिष्ठ संबंधी आप सभी मेरे हैं तो आप सभी आत्मीय भाई बहनों के की सेवा में यह निवेदन करके विश्वास दिलाना चाहती हूँ मैं कि सचमुच जो आप ही में विद्यमान है उसके प्राकट्य में संदेह मत रखिए बहुत अच्छी बात है संदेह रखिएगा तो कभी वो पर्दा खुलेगा ही नहीं संदेह मत रखिए बाहर में जिसको जो कुछ मिल गया है उस पर आस्था मत रखिए मिला हुआ दिखाई देता है किसी भी समय में खत्म हो सकता है तो जो बाहर बाहर दिख रहा है उसमें आस्था मत रखिए और जो भीतर भीतर है और कैसे प्रकट होता है कैसे उसका अनुभव होता है तो स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा और बहुत ही सच्चा उपाय लोगों को बताया कि भाई वह वह अनमोल आनंद प्रेम और जीवन का खजाना जो है वो खुलता है कैसे कुछ नहीं करने से व्रत करो उपवास करो दान करो काम करो तीर्थ यात्रा करो जो भी कुछ करना है करो करो करो करो ठीक है करते करते न करने की घड़ी आनी चाहिए तो बाहर की सारी वृत्तियां सीमित करके बाह्य इंद्रियों की अंत की ज्ञानेन्द्रियों की कर्मेंद्रियों की सारी वृत्तियां सीमित करके भीतर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं वहां से अपने उद्यम से जुट जाती हैं तो कब जाकर के जुट जाएंगे कब ये सीमित अहम उसमें जाके विलीन हो जाएगा ये तो प्रभु का मंगलमय विधान जाने हमारी तैयारी को तो पूरी होगी लेकिन आज जिस समय आप संसार के कार्य के इंतजाम के धुन में लगे हुए हैं इस बीच में आप इस बात को याद रखिए कि ये सब जहाँ के कहा जैसे के तैसे जो का क्यों बना रहेगा संसार का कुछ नहीं बिगड़ता है मेरे बिना लेकिन इसी के भीतर थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत रहने का स्वभाव बनाया जाए संपूर्ण जीवन की सारी गतिविधि उस एक लक्ष्य पर केंद्रित की जाए कि मैं सांस ले रही हूँ तो इस बात के लिए कि हम मिथ्या लगाव में से अपने को छुटा लेंगे और जो main reservoir of life है मेन स्प्रिंग ऑफ लाइफ है जो जीवन का मूल स्रोत है जो आनंद का अथान सागर है जिससे मेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं मुझे उसी के सन्मुख होने की बात है तो विमुखता काल में रुचि बलिद हो जाती है और सन्मुखता काल में सिद्ध होने से पहले ईश्वरीय विभूतियाँ आपके भीतर ही भीतर प्रकट हो करके आपको बलिष्ठ बनाती चली जाती है शांति आती जाती है और प्रियता के रस को तो क्या कहूँ उसका एक ही कण जब सारे संसार को संभालने के लिए प्रयास है तो हमारे जैसे तुच्छ को एक कण ही मिल जाए तो वही हम कपाल पाएंगे बड़ा अच्छा रहेगा बड़ा आनंद रहेगा वह मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को अतृप्ति को भर करके और ऐसा बना देगा ऐसा बना देगा कि जैसी भी हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता है तो <clears throat> रस स्वरूप जीवन है और रंग के अभाव में हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं इसी इसी विडम्बना को मिटाना है संत कबीर ने एक पद लिखा है उसमें ये लिखा है पानी सुनी न पियासी मुझे सुनी सुनी आवे हाथी रस स्वरूप परमात्मा में से उद्भूत में स्थित हैं उन्हीं के द्वारा सुरक्षित पालित संचालित हैं और रस के अभाव में कहाँ कहाँ क्या क्या करते फिर रहे हैं तो इस दशा को मिटाना हम लोगों के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है क्योंकि हम उससे बिछुड़ गए हैं उस रस स्वरूप परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं ये सत्य नहीं है ये भ्रम जी क्योंकि बिछुड़ जाते तो हमारी सत्ता ही नहीं होती वो तो सत्ता तो है वो वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर होता है तो कहीं पर बल्ब जल रहा हो तो उसका कनेक्शन कट जाएगा तो रोशनी बुझ जाएगी रहेगी नहीं तो जो हमारा जनरेटर है जनरेटर ऑफ लाइफ है ना सब सब यूनिट उसी में से जनरेट होते हैं तो उससे एक बल के लिए भी कनेक्शन कट जाता तो हमारी सत्ता खत्म हो जाती सबसे तो ही नहीं रहता तो किसी काल में उससे कनेक्शन टूटा नहीं है और कभी नहीं टूटेगा वो टूटने वाला है ही नहीं है तो जिधर जुटा हुआ लग रहा है वो सेंट परसेंट कोरा धर्म है और और जिधर से लगा हुआ है वो सेंट परसेंट सत्य है तो परमात्मा से संबंध कभी छूटा नहीं मिटा नहीं छूटा नहीं छूटेगा नहीं वो तो छोड़ते ही नहीं है वो कैसे छोड़ेंगे और स्वामी जी महाराज अपनी शानदार पर्सनैलिटी के प्रभाव में आकर आ जाते तो कहते कि कि परमात्मा की हिम्मत नहीं है कि हमारे से संबंध तोड़ और शानदार पर्सनैलिटी थी ना तो वहां भी अपनी शान लगाते कि उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे से संबंध तोड़ लें उनकी उनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी करुणा की गोद से निकालकर हमको फेंक दे अगर ऐसा कर सकेंगे तो अनंत माधुर्यवान क्या विशेषण उनका खत्म हो जाएगा अनंत माधुर्यवान किसको कहते हैं जो जो केवल अपने स्वभाव से ही पतित से पतित को भी अपनी करुणा से संभाल करके रखता है तो हम पतित से पतित हो सकते हैं लेकिन उनके अनंत माधुर्यवान की विशेषता जो है उसको वे खत्म नहीं करेंगे यह जो जीवन का सत्य है वो वस्तुतः कैश पेमेंट के समान है आंख बंद करेंगे कि कान बंद करेंगे कि एकांत में घुसेंगे कि साउंड प्रूफ रूम बनाएंगे कि पहाड़ की गुफा में जाएंगे ठीक है जिसकी जिसके लिए जो जरूरी होगा वो तो मंगलमय विधान से ही परिस्थिति वैसी बनती जाएगी उसके लिए अपने को कुछ सोचना नहीं है और स्वामी जी महाराज की करुणा देखिए कि वो कहते थे समय समय पर कभी कभी कि देव की जी अल्प समय है अल्प आयु है अल्प सामर्थ्य है अगर वृंदावन आश्रम से सत्संग भवन में बैठा हुआ साधक बिल्कुल ही फ्री होकर के यहाँ से न उठे तो क्या सत्संग हुआ अगर उसके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भाई जिस तुम जिस घर में माया मोह के घेरे में बैठे हो तो उसको छोड़ करके बिल्कुल एकांत में जा करके एकांत कुटिया बना के बैठोगे नहीं तो सत्य नहीं मिलेगा तो जब तक इस परिस्थिति के चिंतन में वो पड़ा है कि कैसे कैसे इंतजाम करें इसी बीच में सांस छूट गई तो तो, तो मामला बिगड़ जाएगा तो स्वामी जी महाराज बाह्य परिस्थितियों से संभालने की बात को दूर दो अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन में भी हम लोगों का समय खराब करना पसंद नहीं करते अरे भाई सत्य का शोधक अरे भाई प्रभु का शरणागत अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन में फंस जाए तो जितनी देर उस चिंतन में घुसेगा कि ऐसे इंतजाम करेंगे बेटे से कह देंगे इतना रुपया महीना हमको भेज देगा गीता भवन में वहाँ एक कुटिया बना लेंगे ऐसे बैठेंगे तो क्या जाने ये परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी इस परिस्थिति के चिंतन में हम उस रस स्वरूप रिजर्वायर ऑफ लाइफ से बिछुड़े हुए रह गए परिस्थिति के चिंतन में रह गए तो उससे बिछुड़ गए कि नहीं विमुखता हो गई ना नाता टूटा नहीं लेकिन मेरी वृत्ति तो उधर से हट गई किस बात में लग गई कि चलो मानव सेवा संघ में आश्रम के मंत्री जी से आनंद नारायण जी से बातचीत करेंगे एक प्लॉट मांगेंगे एक मकान बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आके बैठेंगे तो तो जिसके जिसके चिंतन जिसके संबंध जिसकी प्रियता का संदेश यहाँ बैठ करके दिया जा रहा है वह अपने ही में विद्यमान अपना परम प्रिय मेरा उससे मैं विमुख हो गई और अब परिस्थिति को संभालने में चिंतन लग गया चिंतन लग गया क्रिया पूरी होगी कि नहीं होगी कौन जानता मानव सेवा संघ ने अर्थात स्वामी जी महाराज ने साधकों की अल्प सामर्थ्य और अल्प आयु का ध्यान रख करके बहुत चेष्टा की इस बात की कि आपके भीतर जो सत्य विद्यमान है उसकी सरलता को अनुभव करने के लिए आप परिस्थितियों के फेर में मत पड़िए और चेष्टा की अब दोनों ही बातें हैं परिस्थितियों के फेर में पड़ने पर भी आदमी सत्य के विद्यमान होने का अनुभव कर लेता हो ये भी गलत बात है और परिस्थितियों के चिंतन में पड़ जाएगा तो उतनी देर के लिए उसकी विमुखता हो जाएगी इससे भी घाटा लगेगा और परिस्थिति बनेगी कालांतर में समय लगेगा शक्ति लगेगी इस बीच में अगर सांस टूट गई तो प्रोग्राम ही बाकी रह जाएगा इसलिए मानव सेवा संघ की साधन पद्धति में भीतर में विद्यमान शक्ति की अभिव्यक्ति को बाहर की किसी भी परिस्थिति से जोड़ा नहीं गया बहुत जरूरी बात है और मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता भी विद्यमान है साधक भी विद्यमान है प्रेमीजन भी विद्यमान है और दूसरे लोग पूछते हैं नगर नगर में आप जाएंगे अलग अलग शाखाओं के कार्यकर्ता आए हैं तो आप लोगों के सामने ये प्रश्न भी आता रहता है कि भाई मानव थोड़ा उनके बारे में बताओ हम जानना चाहते हैं क्या है कैसा है तो खुद अपने को हल्का रखने के लिए भी जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना और दूसरे परिस्थितियों के फेर में पड़े हुए कि कब फुर्सत मिलेगी कब परिस्थिति छुटेगी तो अखंड पाठ करवाएंगे कि ऐसी कथा कराएंगे कि वहाँ जाके यज्ञ करेंगे कि वहाँ जाके बात करेंगे इस तरह के इस तरह की प्रवृत्तियों में लगे हुए और सत्य को इन प्रवृत्तियों पर आधारित करके इनकी परिस्थिति के चिंतन में होकर के सत्य से विमुख हुए साधकों को सलाह देने की भी जरूरत पड़ती है लोग पूछते भी हैं आपकी जानकारी है आपकी नोटिस में ये बात रहनी चाहिए स्वामी जी महाराज ने स्वस्वरूप में ही जो विद्यमान है उसके अभिव्यक्ति को बाह्य परिस्थितियों के साथ नहीं जुड़ा और उसके सब सब आधार है क्यों नहीं जोड़ा क्योंकि ये अनावश्यक है क्यों नहीं जोड़ा क्योंकि ये हानिकारक है दोनों ही बात जरूरत भी नहीं है नुकसान देने वाली बात भी नहीं है इसलिए आप सभी भाई बहन इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए कि साधन काल में जिस दिन से आपने स्वामी जी महाराज की सलाह मानकर प्रभु से आत्मीय संबंध को स्वीकार किया उसी दिन से अहम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ तो हो गया लेकिन उसमें इतनी सजीवता आ जाए कि उनकी उपस्थिति के अनुभव से हम सब निश्चित हो जाए निर्भय हो जाए रस से सरस हो जाए इस बात की आवश्यकता भी अनुभव करनी चाहिए और जो जहां है वहीं पर इस दिशा में प्रयत्नशील भी हो जाना चाहिए किस बात का प्रयत्न क्रिया और अभ्यास का प्रयत्न नहीं जो जो फंक्शनल रिलेशन है केवल क्रियात्मक संबंध है केवल संकल्प मात्र से जिससे संबंध जुट जाता है उसको तोड़ दे और जो सदा सदा का संबंध है उसको सजीव कर ले इसी किसी विषय को दृढ़ करने के लिए अपने आप को समझाने के लिए धारण करने के लिए व्यक्तिगत सत्संग और मुख्य सत्संग की चर्चा हो रही है तो प्रश्न में ये लिखा गया है कि क्या व्यक्तिगत सत्संग और मुख्य सत्संग दोनों एक ही हैं यदि दोनों भिन्न हैं तो उनका स्वरूप स्पष्ट करें तो दोनों एक नहीं है दोनों एक दूसरे से जुटे हुए तो हैं मुख सत्संग का अर्थ होता है सब प्रकार से अप्रयत्न होना और व्यक्तिगत सत्संग का अर्थ होता है कि सत असत पर विचार करके मुख सत्संग में प्रवेश पाना तो दोनों इकट्ठे शुरू किया जा सकता है पहले बैठ करके व्यक्तिगत सत्संग करें अपने द्वारा इस अपने निर्णय को दोहरा करके उसका प्रभाव अपने पर आने दें कि मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है और और वो संबंध सदा सदा से है और सदा सदा तक रहेगा आज मुझको उस संबंध के सरस अनुभव से वंचित रहना पड़ा तो इसको मिटाना है तो कैसे मिटाए अपनी ओर से सब प्रयास कर लिया इस बात का अन्य विश्वासों का त्याग कर देंगे अन्य संबंधों का त्याग कर देंगे अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे और जिन परम पर समर्थ स्वामी के हवाले मैंने अपने को किया है अब उन्हीं के होकर रहेंगे तो इन सब बातों को याद करना ये व्यक्तिगत सत्संग के भीतर आएगा और ये सब याद कर लेने के बाद हे समर्थ स्वामी मैं आपकी शरण हूँ ऐसा कह करके अपने को कुछ देर के लिए बिल्कुल छोड़ देना तो ये मुख्य सत्संग के भीतर आ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके चलाना अच्छा ही है व्यक्तिगत सत्संग के द्वारा हम सब बातों को याद कर लिया एक बार अपने भीतर विचार करके दृढ़ कर दिया उनको और फिर उसके अनुसरण में अपने को छोड़ दिया तो निर्मम होकर निष्काम होकर प्रभु के आत्मीय संबंध को याद करके स्वीकार करना तो एक ही बार होगा बारंबार स्वीकृति की कोई बात ही नहीं है तब तो याद कर लेना होगा उसको याद करके फिर उनकी शरण में अपने को छोड़ करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह उनकी कृपा की प्रतीक्षा में पड़े रहो तो कृपा तो हो रही है पहले ही से हो रही है संभाल करके ही रख रही है दो दो तीन बार ऐसा अनुभव में आया एक बार हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ साथ मुख मुक्ते हम और दो तीन सज्जन और थे हम सब लोग गए थे एक जगह पर सत्संग में बारह वहाँ पर एक शाखा है अभी भी है तो सत्संग में हम लोग गए थे तो क्या हुआ कि वहाँ जाने पर पता चला कि कुछ इलेक्शन इलेक्शन का झगड़ा उगड़ा हो गया है और हलचल मची है नगर में संत थे वहाँ पर वो इंतजाम करते थे वो रिसीव करके स्वामी जी महाराज को जगह पर पहुंचा करके वहाँ से गायब हो गए नगर में चले गए तो घर घर में जाकर उन्होंने कहा कि भाई देखो संत आए हैं तुम्हारे यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है अब ये जो हलचल मची है घबराहट और और अप्रियता हो गई है तो पछताओ मत घर में बैठो मत चलो सब सत्संग में जाओ संत के दर्शन करो सत्प्रसंग सुनो तो शांति मिलेगी वो घर घर में घूम घूम करके लोगों के हारे हुए पुलिस को जिंदा कर दिया और आठ बजे सत्संग का कार्यक्रम था तो लगभग दस बजे सारा समूह जुट गया खूब बड़ी सभा जुट गई बढ़िया से अब आरम्भ होने वाला था कार्यक्रम तो स्वामी महाराज ने मुझे बुलाया कि आओ तो बड़ा ऊंचा स्टेज था इतना कि पांव चढ़ा के उस पर बैठना थोड़ा कठिन हो रहा था और देर भी हो गई थी अब नया इंतजाम करने के लिए मैंने कहा भी नहीं कि क्यों दूध ला करके यहाँ रखो तो मैं ऊपर चढ़ूँ मुझसे खड़ी थी मेरे पास साधी भी खड़ी थी और इन दोनों के बीच में से ऐसे करके काम उठा के किसी तरह से ऊपर मैं चढ़ी और जो ऐसा बैठने की चिंता करने लगे हम सभी से किनारे किनारे बैठे हुए थे तो पैसा नहीं गया मोटा मोटा गद्दा बिछा था चौकी की तरह दिखा लेकिन उसके नीचे सहारा नहीं था तो ऐसे में बैठी तो लुढ़क गई तो लुढ़क गई तो शरीर जो है वो जमीन को छुआ नहीं ऐसा जैसे कि नीचे से यूं करके किसी ने खा दिया हो तो झट से ऐसे गोल हो करके ऐसे लुढ़की और एकदम गोलों हो करके उठ के मैं खड़ी हो गई लड़कियों ने पकड़ लिया मुझको आए दीदी के लिए हमको तो लगा ही नहीं कुछ ऐसे पीठ में कमर में टांग में कहीं भी नहीं लगा कि ऐसे जमीन पर छुआ छुआ ही नहीं स्पर्श ही नहीं हुआ ऐसे करके नीचे से जैसे किसी ने हाथ लगा के उठा के खड़ा कर दिया तो हर कोई बात ही नहीं बड़े आनंद में फिर इन लोगों को पकड़ करके इनके सहारे फिर ऊपर चढ़ गई चढ़ के बैठ गई सत्संग तो हो गया स्वामी जी महाराज जी हंस रहे थे सब लोग हम लोग हंसते ही रहे फिर वही बात खत्म तो हम सोचे कि कैसे हुआ इतने ऊंचे पद से गिर करके और जमीन का स्पर्श हुआ ही नहीं हो गया हो गया है हाँ, एक बात काफी दिनों के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भीतर से जब विश्वास बढ़ता है भीतर की जब निष्ठा बढ़ती है तो तो घटनाओं में गहराई का दर्शन होता है और नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता बहुत देर बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कृपा का जो सहारा है वो तो सब समय उनकी ओर से है लेकिन कृपालु की कृपा का आश्रय जो लेता है कृपालु की कृपा की प्रतीक्षा में जो रहता है उसको उसका विशेष अनुभव होता है नहीं तो नहीं होता है तो इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि कृपा का सहारा तो अपने को सब समय है लेकिन आप भाई बहन उस परम कृपालु की नित्य उपस्थिति में विश्वास करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत सत्संग में और और मुख सत्संग में परमात्मा की प्रतीक्षा अगर भीतर से जगेगी तो वो किस प्रकार भीतर बाहर भर रही है और हमारे मैल को धो करके निर्मल कर दे रही है इस बात का अनुभव इसी वर्तमान में आप भाई बहनों को होगा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए अपने को